और ए मेरी कौम तुम अपनी जगह पर अमल करो बेशक मैं भी अमल करने वाला हूं तुम अनकरीब जान लोगे किस पर ऐसा अजाब आता है जो उसे रसुआ करेगा और कौन झूठा है और तुम इंतजार करो बेशक मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वाला हूं